ये है मेरी पसंद पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज है 11 दिसंबर यानी हिंदी फिल्मों के लाखों चाहने वालों के दिलों पर राज करने वाले सुप्रसिद्ध अदाकार दिलीप कुमार का जन्मदिवस और इसी महीने की 24 तारीख को हमारे बड़े ही चहीते रफ़ी साहब का भी जन्मदिवस है तो जैसा कि आप जानते हैं रफ़ी साहब एक लंबे अरसे तक दिलीप कुमार की आवाज़ बने रहे तो आज का प्रोग्राम मैंने सजाया है मेरी पसंद के कुछ ऐसे गीतों से जिसे दिलीप कुमार जी के लिए रफ़ी साहब ने गाए हैं दिलीप साहब के करियर की शुरुआत भले ही बॉम्बे टॉकीज़ की ज्वार भाटा से हुई पर उन्हें गज़ब की मकबूलियत मिली शौकत आर्ट्स प्रोडक्शन की फ़िल्म जुगनू से जिसमें उन्होंने उस समय की सुपरस्टार जहां के साथ काम किया था फिल्म 2 अक्टूबर 1948 को रिलीज़ हुई थी जिसमें दिलीप कुमार ने एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था ये एक ऐसा किरदार था जो कि सामाजिक रूढ़ियों के सामने आवाज़ उठाता है शुरुआत में इस फिल्म की कथावस्तु को देखते हुए उस पर बैन लगाने की मांग की गई थी फिल्म इंडिया के हम्म। बाबूराव पटेल ने तो इस फिल्म के कथावस्तु को घटिया कहकर अपने रिव्यू की एक कॉपी मुंबई स्टेट के तत्कालीन गृह प्रधान श्री मुरारजी देसाई को भेजी थी जिन्होंने इस फिल्म को 26 अक्टूबर 1948 को देखा और फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया पर बाद में जब इसे हटा लिया गया तब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई दिलीप कुमार की एक्टिंग की बहुत ही तारीफ हुई और फिल्म का नूरजहां और मोहम्मद रफ़ी का गाया और नूर जहाँ और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गाना सुपर डुपर हिट रहा और इसी गाने को अब मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ संगीत फिरोज निज़ामी का है और फिल्म है जुगनू यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है यही ही दुनिया बदलती है किसी का नाम दुनिया है कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था वो दिन जब याद बदला बपा का बपाई के सिवा क्या है लो वो जमाना जब तुझे अपना बनाया था भुला दो नत जब तुम्हारे लाप पे आया था वो कसम जो के खाए थे कभी तुमने भुला दो हाँ भुला दो किस्त के सादा फसाने को तमन्ना हो कि बस जिसे अपना कहे कोई जो अपना था पराया है दुनिया बदलती है का नाम दुनिया है कभी है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है भुला दो वो भुला दो वो कसम जो के खाए थे कभी तुमने भुला दो हाँ भुला दो इश्क के सादा फसाने को तमन्ना हो मुझे अपना कहे कोई जो अपना था पराया है ये दुनिया बदलती है इसी का नाम दुनिया है कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या है मोहब्बत करते भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है यहाँ बदला बपा का बेवफाई के सिवा क्या है यहाँ बदला गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसे चुना है मैंने 1951 की फिल्म दीदार से इस फिल्म में दिलीप साहब ने एक दृष्टिहीन गायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में अशोक कुमार ने भी काम किया था दिलीप कुमार इस रोल को बखूबी निभाना चाहते थे तो उन्होंने अशोक कुमार जो कि उनके सीनियर थे उनकी सलाह ली और उनसे पूछा कि एक अंध की भूमिका मैं कैसे करूं? अशोक कुमार ने कहा अपनी आंखें बंद कर लो और फिर तुम कुछ नहीं देख पाओगे दिलीप साहब ने सवाल किया पर मुझे तो अपनी आंखें खुली रखकर इस किरदार को निभाना है और आंखें खुली रखता हूँ तो मैं सब देख सकता हूँ अशोक कुमार ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उनसे कहा कि महालक्ष्मी जाओ जहाँ ब्रिज ख़त्म होता है वहाँ एक अंधा भिकारी तुम्हें मिलेगा तुम उसे देखो दिलीप साहब तो चले गए वहाँ अपना अनुभव बताते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने उस भिक्षुक के साथ कुछ दिन समय बिताया और दुनिया को समझने का एक अलग ही दृष्टिकोण वहाँ से उन्हें मिला उन्होंने अपने किरदार को चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इतनी खूबी से निभाया कि आज भी लोग इस फिल्म को दिलीप साहब की अदाकारी के लिए याद करते हैं आइए इसी फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और तर्ज बनाई थी नौशाद ने देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया एक आग बुझी एक आग लगी आंखों मेरी क्या देख लिया देख लिया मैंने मिलकर भी रहा मैं मुश्किल में मिलने का नतीजा देख लिया एक आग बुझी एक आग लगी आंखों ने मेरी क्या देख लिया देख लिया मैंने फिल्म हलचल ये के आसिफ की फिल्म थी इस फिल्म में दिलीप कुमार की अदाकारी को खूब सराहा गया था बाबूराव पटेल जिन्होंने जुगनू फिल्म में दिलीप कुमार की अदाकारी को ठीक ठाक कहा था उन्होंने इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को क्लासिक परफॉर्मेंस कहते हुए लिखा था he lives his role from scene to scene and attains frightening realism in the final climax तो आइए इस फिल्म का एक ड्यूएट सुनते हैं जिसे दिलीप कुमार और नरगिस पर फिल्माया गया है गीत खुमार बाराबंकवी का है और संगीत मोहम्मद शफ़ी का जुदा हम तुमसे जुदा तुम हमसे जुदा हम तुमसे जुदा दुनिया में हमारा कोई नहीं दुनिया में हमारा कोई नहीं रातें हैं अंधेरी उल्फत की रातें हैं अंधेरी उल्फत की उम्मीद का तारा कोई नहीं उम्मीद का तारा कोई नहीं किस्मत के सितारे डूब गए बात करते हैं हिंदी सिनेमा जगत की पहली टेक्निकलर और गोल्डन जुबली हिट फिल्म आन की जिसमें दिलीप कुमार ने अपनी ट्रेजेडी किंग के इमेज से बिल्कुल हटकर एक रोमांटिक एक्शन हीरो की भूमिका बखूबी अदा की थी इस फिल्म को दिलीप कुमार की माइलस्टोन फिल्म भी कहा जाता है तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और तर्ज बनाई थी नौशाद ने ये गीत मेरा बड़ा ही पसंदीदा गीत है एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुसन तेरा बेकार मैंने तुझसे किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार उल्फत न सही नफरत ही सही ओ उल्फत न सही नफरत ही सही इसको भी मोहब्बत कहते हैं तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं तेरे भी दिल में आग उठी है जाग जबा से चाह न कर इकरार मैंने तुझसे किया है प्यार मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार मैंने तुझसे किया है प्यार अपना न बना लूं तुझको अगर ओ, अपना न बना लूं तुझको अगर एक रोज तो मेरा नाम नहीं पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार मैंने तुझसे किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार W W W dot entertainment dot com अब सुनते हैं दिलीप कुमार की एक और फिल्म उड़न खटोला का एक गीत ये फिल्म 1955 में रिलीज़ हुई थी और इसने सिल्वर जुबली मनाई थी इसमें उन्होंने एक ऐसे शख्स का किरदार अदा किया था जिसका प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हो जाता है और फिर वहाँ अलग अलग घटनाएं होती हैं और वहाँ उन्हें निम्मी से प्यार हो जाता है इस फिल्म में दिलीप साहब की अदाकारी को खूब सराहा गया था और ये फिल्म एक म्यूज़िकल हिट साबित हुई थी आइए इस फिल्म का ये गीत सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में जिसे शकील बदायूनी ने लिखा था और संगीत था नौशाद का आ, हाँ, संभल कर खेलना दरिया से मौजों की रवानी में जलेंगे दिल हजारों आग लग जाएगी पानी में ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो ना तूफान से खेलो कहते हैं तुमसे उमंगों के धारे ये कहते हैं तुमसे उमंगों के धारे लगा दो मोहब्बत की नैया किनारे नैया किनारे चलो दिल की दुनिया में संग संग हमारे संग संग हमारे मिला है जो रास्ता तो मन दिल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो ना तूफान से खेलो Thank you. कोई दिल की पानी से बुझ न सकेगी लगी दिल की पानी से बुझ न सकेगी जहाँ तक बुझाओगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी न सोचो के दुनिया हमें क्या कहेगी हमें क्या कहेगी मोहब्बत है मुश्किल तो मुश्किल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो ना तूफान से खेलो प्रोग्राम के आखिर में मैं सुनवाना चाहती हूँ एक ऐसी फिल्म का गीत जिसे न सिर्फ अपने अलग कॉन्सेप्ट के लिए बल्कि दिलीप साहब की आवाज़ में गाए गए एक गीत की वजह से भी याद किया जाता है ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी उन्नीस में रिलीज़ हुई इस फिल्म का नाम था मुसाफिर उन दिनों ऋषिदा बिमल रॉय की फिल्मों का एडिटिंग किया करते उनके काम से प्रभावित होकर एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे पूछा कि आप फिल्में डायरेक्ट क्यों नहीं करते उन्होंने कहा मैं करना चाहता हूँ पर पैसों का क्या मुझे एक अलग ही तरह की फिल्म बनानी है उन्होंने दिलीप कुमार को कॉन्सेप्ट समझाया और दिलीप कुमार को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने बिना कोई चार्ज लिए फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की अब जब दिलीप कुमार अदाकार थे तो फाइनेंसर मिलना भी मुश्किल नहीं था लाखों में चार्ज करने वाले दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए सिर्फ पाँच हजार रुपये मिले थे इस फिल्म के संगीतकार थे सलील चौधरी उन्हें लगा कि क्यों न दिलीप कुमार से एक गीत गवाया जाए तो जब उन्होंने ये बात दिलीप साहब के सामने रखी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि गीत गुनगुनाना अलग बात है और फिल्म के लिए गीत गाना बिल्कुल अलग बात पर सलील चौधरी के बहुत समझाने पर उन्होंने गाने के लिए रजामंदी जाहिर की पहले ये एक सोलो गीत था पर बाद में उन्हें लगा कि एक फीमेल वॉइस भी इसमें होना चाहिए तो उनके साथ गाने के लिए लता जी को आमंत्रित किया गया बहुत ही कम रिहर्सल्स में ये गीत तैयार हुआ फिल्म तो नहीं चली पर मुसाफिर को आज भी इस ड्यूएट के लिए जाना जाता है तो आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं यही दो गाना दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में बोल शैलेंद्र के हैं और इसी गीत के साथ लिविंग लेजेंड दिलीप कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए मैं ईशा आपसे इजाज़त चाहती हूँ पर जाने से पहले मैं श्री त्रिनेत्र वाजपेयी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी सहायता के बिना इस प्रोग्राम को कर पाना मुश्किल था तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार रही हो ये दोनों अभी तक याद है तुझे है तो मगर जो धुन बीच रास्ते ही के खो गई उसे फिर छेड़ देने से क्या फायदा फिर भी याद तो कभी कभी आ ही जाती है ना क्या जरूरत है याद करने की तूने अपने बेटे का नाम राजा क्यों रखा इसकी भी क्या जरूरत थी क्या है ये तेरे हाथ में हम्म, देखो हम्म? अब इसे भी संभाल के रखने की क्या जरूरत थी अब बैठ बैठ बैठो ये वही है ना जो उस दिन मैंने तेरे घर की छत पे ली थी हैं? हम्म? याद है मैं उस दिन देर से आया था और तूने जल्दी जल्दी कपड़े बदल लिए थे फिर मैंने डूबते सूरज के सामने तेरी ये तस्वीर ली थी क्या दिन थे कसक बन के समारे सीने मुझे तो सब कुछ याद है कुछ भी नहीं भूला सच और ये वो है जब वो हम सब झील पे घूमने गए थे उस दिन एक छोटी सी बात पे तू मुझसे लड़ ली थी दिन भर मैं तेरे पीछे पीछे घूमता रहा तुझे मनाता रहा मैं मान के तुम रुक गए थे वो तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से तुझको चिढ़ाने के लिए अरे हाँ उसी दिन शाम को जब हम लौट रहे थे कश्ती में है उसी दिन तो ना तूने एक गाना गाया था कौन सा गाना था वो अच्छे से बोलते उसके क्यों तुम्हें तो सब कुछ याद है ना याद तो है मेरे मन में ही घूम रहा ठहर हाँ हाँ याद आ गया झुम